को सुनाने का भी प्रयास किया ये भी एक उत्तम कार्य है कि आप अपने विचारों को संस्कृत भाषा के माध्यम से सुनाने में समर्थ है हो जाते हैं इससे उन्नति होती है तो कई सज्जनों ने जैसे एक बहन जी ने सुनाया अच्छी भाषा बोलने में भी शुद्ध थी और अच्छे प्रकार से अपने विचारों को जैसे अपनी दूसरी भाषा में बोलते हैं ऐसे सुना है आपके विचारों में जो परिवर्तन आता है जो मोड़ आता है वह भी आपके सुनाने से अभिव्यक्त होता है आप यहां सुनते हैं पढ़ते हैं क्रिया रूप में इन कार्यों को देखते हैं तो आपके विचारों के माध्यम से पता चलता है कि आपने अपने विचारों में कहां कहां पर कैसे मोड़ दिया है एक ये भी अंश अभिव्यक्त होता है कि आप इस विद्या को वेद विद्या को दर्शन विद्या को चरित्र निर्माण की विद्या को समझने लगे उसका स्वरूप समझ माने आने लगे आप आपके विचारों से यह भी पता चलता है कि आज की परंपरा देश विदेश में पठन पाठन शिक्षा प्रणाली की राजनीति की समाज की परंपरा की ये प्रभूत रूप से अधिक से अधिक रूप में अवैधिक है अवैधिक परंपराएं वेदों के ऋषियों के विज्ञान के विरुद्ध है अब जो चल रही है आपके विचार उभर के आते हैं आप सुनाते हैं उससे जीवन का जो स्तर है वो परिवर्तित होता है पर इसके साथ साथ आप देखेंगे मनोविज्ञान को इस परिवर्तित स्वभाव को परिवर्तित विचारों को जो मुड़ा हुआ देखते हैं आप यदि उसकी रक्षा नहीं की जाए उसको सुरक्षित में रखा जावे उसकी प्रवृत्ति न की जावे तो वो जितना आपके मन में मोड़ आया परिवर्तन हुआ वो लौट करके उल्टा परिवर्तित हो जाता है कुछ समझ में आई बात एक व्यक्ति सत्संग स्वाध्याय योगाभ्यास के बल पर अपने स्वभाव में बहुत मोड़ देख रहा है परिवर्तन देख रहा है यदि कालांतर में वो सावधानी नहीं बरतता कालांतर में प्रयासशील नहीं रहता आगे सतत वही ग्रंथ नहीं पढ़ता वो सत्पुरुषों का संग नहीं करता वह आत्मनिरीक्षण नहीं करता तो वो जो जितना उत्थान उन्नति हुई है वो आपकी सारी की सारी लौट करके समाप्त हो जीवन की धारा को कैसे सुरक्षित रखते हैं जीवन की विपरीत धारा को कैसे मोड़ा जाता है जीवन की अच्छी विचारधारा को कैसे प्रवाहित किया जाता है उसके अंदर बहाव पैदा किया जाता है भी विज्ञान व्यक्ति को आना चाहिए ये नहीं मानना है कि कोई जन्म से ही कोई इतना वैज्ञानिक उत्पन्न होता है प्रयासशील व्यक्ति वही व्यक्ति साधारण व्यक्ति इस सारे मनोविज्ञान को हस्तगत कर लेता है परिश्रम करने वाला उसमें सारी गतिविधि आ जाती है समय लगाना खोज करना परीक्षण करना बार बार गिरना उठना आशा निराशावाद की धाराओं को देखना निराशावादी धारा विचारधारा को रोक देना आशावादी विचारधारा को उभार लेना ये मनोविज्ञान चलता रहता है सतत चलता है प्रतिदिन का काम है यदि आप ये विज्ञान ऐसा सोचना विचारना नहीं जानते तो अधिक प्रगति नहीं कर सकेंगे थोड़ी होगी थोड़ा लाभ होगा थोड़ा मोड़ आएगा तो इसलिए इन कामों के लिए हमको ये सावधानी बरतनी पड़ती है कई बार व्यक्ति मानता है सोचता है कि मैं बहुत सीख गया आर्यविल विकास में मुझे आने का अवसर है पांच वर्ष आठ वर्ष से मिलता रहता है मैंने पढ़ा भी बहुत कुछ है सुना भी बहुत है और वो ये मानता है कि अब मुझे सुनने की पढ़ने की यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं ध्यान देना ये जो मान्यता उसकी बनी है ये उसके जीवन को बिल्कुल नीचे की ओर ले जाए आप सोच लीजिए उसने मनोविज्ञान को मानव जीवन को नहीं समझा इस अनुचित विचारधारा से रोकने के लिए उसको अपना मानसिक स्तर देखना पड़ेगा सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या सोचना है मैं गलत तो, नहीं सोच गया देखता कुछ ऐसा है मैंने सोचा है कि अब आवश्यकता नहीं है सुनने की आवश्यकता नहीं है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है सत्संग की आवश्यकता नहीं है योग सीखने की तो उसकी त्रुटि दोष समझ में आएगा एक उदाहरण आपके सामने रखूं इस दृष्टि से कि केवल उदाहरण भी है भी या नहीं कोई इसका उदाहरण तो बहुत है एक उदाहरण उपस्थित करता हूं एक बहुत अच्छे ब्रह्मचारी थे तीव्र बुद्धि प्रतिभाशाली और लंबे काल तक मेरे पास रहे और सीखते रहे लंबी बात है पर कालांतर में उनके मन में एक बात आई कि मैंने योग की बातें बहुत सीखी हैं और मैं अंग उपांगों को भी पढ़ चुका हूं पर्याप्त और बोलने में पढ़ाने में भी समर्थ हूं अब अकेला रह करके योगाभ्यास कर सकता हूं मुझे स्वामी जी की कोई आवश्यकता इस समय नहीं अनुभव होती असरता की दृष्टि से नहीं उन्होंने ये माना कि अब स्वामी जी ना भी हो न भी बताएं उनका सानिध्य में मिले तो भी मैं चलता रहूंगा मेरी उन्नति में कोई बाधा होने वाली नहीं है ऐसा उसने माना और वह दूसरे स्थान में चले गए तो आप देखेंगे कभी कभी मैं उनको लंबा चौड़ा उपदेश नहीं देता था वो उठने बैठने भाव भाव चर्चा कभी सिद्धांत कभी बताना उससे व्यक्ति कैसे प्रभावित रहता है तो उनकी ओर से सूचना मिली पत्र आने लगे कि मेरी स्थिति नीचे की ओर जा रही है मेरा जीवन का स्तर नीचे गिर रहा है और यदि इसको न संभाला जाए तो पता नहीं ये कहां जाएगा तो जहां रहते थे मैंने वहां जा जा करके अपने प्रधान भूतपूर्व प्रधान कहना चाहिए अब तो सरपंच नहीं होंगे गुरु जी ये वैसे इन्होंने अपने इनका इतिहास सुनाए तो अपना अच्छा है और कमजोरी भी हम इनको इनकी कमजोरी भी सुना दिया करते हैं इन्होंने भूमि दी है अपनी स्वयं की भूमि अच्छी भूमि वो गुरुकुल के लिए तो उसमें वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति का प्रयास भी चलता रहा अब कुछ में मोड़ इस रूप में आ गया वो आधुनिक विद्यालय में परिवर्तित कर दिया तो मैं वहां रहता था तो वहां जा जाके मैंने उनको संभाला और उनकी शंकाओं का समाधान किया और यदि ऐसा नहीं होता तो वो पता नहीं आज वो ब्रह्मचारी है आज वो अच्छे विद्वान हैं उस समय वो पता नहीं कहां मोड़ खा के कहां चले जाते एक प्रयोग नहीं अनेक प्रयोग ऐसे होते रहते हैं वो व्यक्ति को जो सत्संग से जो मोड़ आता रहता है वो दूसरे ढंग से मोड़ नहीं आता आप कभी देखें साक्षात जो व्यक्ति आचरण करता है उसके उठने बैठने में देखना उसकी सोचने की शैली देखना कहने का ढंग देखना सारे हाव भाव आप देखते चले जाएंगे और जब वो गहराई में जाता है और गहरी बातें सुनाता है वो और कहीं नहीं मिलती वही वहीं मिलती है यद्यपि ज्ञानेश्वर जी कितने वर्ष हो गए पता नहीं मुझे पढ़ना पढ़ाना रहना आदि आदि चलता रहता आज भी ज्ञानेश्वर जी मेरे साथ रहे मान लो बिल्कुल दिन रात तो आज की इन बातों को वो नहीं समझ पा रहे नहीं देख पा रहे मेरे साथ रहने से उनको वो समझ में आ सकती है नहीं तो कठिन है ये स्थिति बनी रहे ये जो ब्रह्म विद्या है गहरी जो विद्या है ये इतनी साधारण नहीं है समझने का बड़ा भारी प्रयास किया गया और फिर उसको देखा कि संसार जो पूरा का पूरा संसार इस विद्या के सामने खड़ा करके देखा जाता है तो कहां खड़ा मिलता है इसके समझने वाला करोड़ों में कोई एक आदमी करोड़ों में और समझने वालों में चलने वाला फिर और कई करोड़ों में इसलिए एक बात मैंने आपको बतलाई सतत व्यक्ति को सत्संग चाहिए प्रतिदिन चाहिए भी प्रतिदिन नहीं मिलता तो एक सप्ताह में महीनों में वर्षों में उसको लगातार रखना ही चाहिए दो स्थितियां व्यक्ति की या तो ईश्वर का सत्संग करता रहे लगातार या महापुरुषों का करता रहे तीसरे पक्ष में उसका जीवन धराशाई हो जाएगा या तो इतनी योग्यता बना चुका है सत्पुरुषों का संग करते करते करते करते विवेक वैराग्य को प्राप्त किया और वैराग्य विवेक वैराग्य को प्राप्त करके समाधि को प्राप्त किया समाधि को प्राप्त करके इतना स्तर बनाया लगातार ईश्वर का सत्संग उसको मिलता रहता है लगातार मिलता है वो सुरक्षित उन्नत अपने आप को ऊंचा उठाता रहता है ध्यान देना यदि वो दैनिक जीवन में उस ईश्वर के सत्संग से थोड़ा सा इधर होता है तो मार खाता है ये स्थिति है व्यक्ति की जीवात्मा की स्थिति है ये उस व्यक्ति की बात है जो ईश्वर का अनुभव करता दैनिक जीवन में यदि थोड़ा सा ईश्वर का सत्संग हटता है ढीला पड़ता है वहीं पर उसको चोट लगती है आघात लगता है हानि उठानी पड़ती है क्षण भर भी ईश्वर का सत्संग छोड़ना नहीं चाहता ये बुद्धिमान इसके पश्चात जिन सज्जनों का सीधा संपर्क ईश्वर से नहीं है शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण से है वो सत्पुरुषों के संग में रहते हैं और सत्पुरुषों का संग भी वैसा ही है जैसा मैंने ईश्वर का सानिध्य बताया उसको सतत सत्संग मिलता है और जब सत्संग थोड़ा सा नहीं मिलता तो वो व्यक्ति भी ऐसे ही हानि उठाता है सत्पुरुषों का संग न मिलने से इस प्रकार से हानि होती रहती है इसी प्रकार से याद रखिए वेद और वेदानुकूल ऋषिकृत कर्म जब सत्पुरुष उपलब्ध नहीं हो रहे हैं सीधे आप सत्पुरुषों की संख्या भी बहुत बड़ी नहीं देख पा रहे हैं वहां पर ये जो दर्शन है योग दर्शन है सांख्य दर्शन है न्याय दर्शन है दस उपनिषदे हैं वेद है सत्यार्थ प्रकाश है ऋग्वेदी वाष्य भूमिका है इन ग्रंथों को अपने पास रखते हैं घर पे श्रीकांत अपने पास रहता है बस ये वो सत्पुरुष का स्वरूप है ये ऋषि हमारे पास में ऋषि बोल रहा है हम सुन रहे हैं ये सारा विवरण ऋषि के जीवन का है उसको पढ़ते हैं उसकी एक एक पंक्ति दिन भर प्रेरणा देती है हम जब कभी भी उल्टे विचार उभरते हैं वो पंक्ति सामने आगे खड़ी हो जाती है ऋषि ये बोलते हैं आप कहां जा रहे हैं सत्पुरुषों के बनाए ग्रंथ उनको पढ़ते रहना आप ध्यान देंगे यद्यपि जहां भौतिक विज्ञान की उन्नति हुई है सत्पुरुषों के ग्रंथ में पढ़ने से महती हानि हुई मानव जाति का दिमाग खराब हो गया यदि भौतिक विज्ञान के साथ इस खगोल भूगोल के विज्ञान के साथ यदि ये दर्शन विद्याओं को भी जोड़ देते उपनिष विद्या को भी जोड़ देते और वेद विद्या का भी बहुत सा भाग जोड़ते तो इतना भयंकर पतन मानव जाति का कभी नहीं होता आज भी कोई देश अपने देश की रक्षा करना चाहता है चरित्र की रक्षा करना चाहता है सज्जनता अपने जीवन में लाना चाहता है लोगों में सौहार्द्य को उत्पन्न करना चाहता है तो निश्चित बात है कि विद्यालयों में ये ऋषियों के ग्रंथ भले ही आंशिक रूप में हो एक भाग हो अनिवार्य हो उसमें सौ के सौ अंक अर्थात उत्तीर्ण होना आवश्यक हो इतना भाग तो उसमें जोड़ा जा सकता है और चीजें रहेंगी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं पढ़ाने की और कितने विषय पढ़ेगा कोई व्यक्ति कोई गति भी नहीं होती पर उन पांच विषयों के स्थान पर ऋषियों का <coughs> एक बार एक भाग लगा दो एक अध्याय लगाओ एक पाद लगाओ एक सुक्त लगा दो और फिर योगाभ्यास को जोड़ो उसके साथ में तो ये सब कुछ सुरक्षित हो सकता है इसलिए इसके बिना यह सारी आपत्ति आई है ये पढ़ा लिखा वर्ग माताएं बहने एम बी पीएचडी सबका दिमाग बिल्कुल बेकार हो गया है ईश्वर के विषय में आप जान सकते हैं अब ये पहने आई कुछ पढ़ी लिखी इन्होंने सुनाया एक ने नहीं दो ने नहीं कितनों ने कि ईश्वर के विषय में जो कुछ ज्ञान है वो उल्टा है या तो है नहीं है तो उल्टा है ये पढ़े लिखों की स्थिति है इन सब ये इसलिए हुआ कि इन्होंने ऋषि ग्रंथों को नहीं पढ़ा न पढ़ाया न स्वाध्याय करते तो ये बात है हमारी रक्षा के जो साधनों में से ऋषिकर ग्रंथ है ऋषिकर ग्रंथों को हम आदर्श मान के चलते और उनकी पंक्तियों को पढ़ते और जिस समय आप श्रद्धा से पढ़ते हैं वो सीधा आपके जीवन को प्रभाव डालते वो पंक्तियां तो इस विषय में अपनी मानसिक स्थिति को सुधारते रहना चाहिए और जो आगे आप योगाभ्यास करेंगे ध्यान देना जो अच्छे विद्वान बन जाते हैं अच्छे विद्वान बनने पर पढ़ाते भी उनके लिए बात बतलाता हूं वो ये मान लेते हैं मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया वो ये मानते हैं मैं पढ़ा भी देता हूं वो ये मानते हैं कि मैं अपनी स्थिति में पहुंच गया हूं आदि आदि वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है उनको कितना सोचना पड़ता है इतना आगे जाने के लिए उनको परिश्रम करना पड़ता है अपने आप को बार बार उधेड़ करके देखना पड़ता है तो पता चला कि वस्तु स्थिति वैसी नहीं है ये मानसिक स्तर पर मैंने मान लिया था कि मैं अपनी स्थिति में पहुंच गया हूं वैसा होता नहीं उसको फिर बार बार दोहराता है उन्हें वर्षों तक दोहराता रहता है और सत्यग्राही व्यक्ति अपनी कमजोरी को पकड़ के रख लेता है और निकाल के फेंक देता है दस वर्ष के पीछे कमी समझ में आई है दस वर्षों तक वो चलता रहा है और फिर उसको समझ में आया कि मैं भी भूल में हूं उन भूलों को पकड़ता है उसको दूर करता है ये विशुद्ध जीवन जिसमें व्यक्ति पूरा सत्य ग्राही होता है कोई ननूनत नहीं होती सत्य के ग्रहण करने या सत्य के छोड़ने में ये बड़ी विचित्र अवस्था है और ये अद्भुत अवस्था केवल ईश्वर के जानने वाले भी होती है दूसरे लोगों की कभी नहीं होती उस जीवन की हम सब भावना करते हैं उस जीवन की हम आशा रखते हैं जहां लाखों ऋषि चढ़े ईश्वर का साक्षात्कार किया और उन्होंने जो विवरण दिया है जो ग्रंथ लिखे हैं और जो पवित्रता बताई है उसका चित्र कोई भौतिक वैज्ञानिक नहीं खेल सकता भौतिक वैज्ञानिक कल्पना नहीं कर सकता उनके जीवन की भौतिक वैज्ञानिकों की मय की बुद्धि है मान पुरुषार्थ है हम उनके ऋणी पर इस विषय में वो नहीं जानते नहीं समझते अब जब इतने वैज्ञानिक इस विषय में नहीं समझते तो ध्यान दो आपको कितना परिश्रम करना पड़ेगा ये मैंने आपको बतलाया अपने मनोविज्ञान मानसिक विचारधाराएं सोचने का ढंग कहां कहां पर ये बातें हमारी इस रूप में आती रहती है और उसको आप देखते जाइए परिवर्तन होता जाएगा यदि आप ऐसे ढंग से नहीं सोचेंगे तो परिवर्तन होने वाला नहीं है कहावत है ये चिकना घड़ा बन जाता है व्यक्ति बूंद लगी और फिसल गई मूसलाधार वर्षा होने पर भी वो घड़ा गीला नहीं होता सारी बूंदें समाप्त उतर जाती है उसके ऊपर से व्यक्ति का जीवन ही है ऐसा है दूसरी बात याद रखने की है वो ये बात है कि ज्ञान कर्म उपासना इनको को याद रखिए ज्ञान का क्षेत्र अपना है कर्म का क्षेत्र अपना है उपासना का क्षेत्र अपना है कर्म के क्षेत्र में पूरा पुरुषार्थ करना वैज्ञानिक बनना धन कमाना संपत्ति को इकट्ठा करना न्यायपूर्ण ये जीविका चलाने के साधन है अपने और दूसरों के लिए साधन है ये अच्छी बात है पर याद रखना इस विषय में धन के विषय में हमारे देश जाति के लिए धर्म के प्रचार के लिए वेदों की रक्षा के लिए उपनिष्ठ विद्या की रक्षा के लिए योगाभ्यास के लिए देश की रक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमारा एक धर्म है कर्तव्य बनता है कि <coughs> जैसे अपने बच्चों के लिए हम सब कुछ करते पालन पोषण करते एक एक बाल पर पांच पांच लाख रुपया खर्च करते और साठ वर्ष लगा देते हैं जैसे पारिवारिक स्तर पर हम सोचते हैं अपने जीवन को लगाते झोंकते हैं ऐसे राष्ट्र के लिए देश के लिए वेद की रक्षा के लिए हमको लगाना चाहिए आत्मनिरीक्षण कर लेना आप इस भावना को देखो मन में कि राष्ट्र के प्रति देश के प्रति वैदिक संस्कृति के प्रति वेदों की रक्षा के प्रति हम कितना धन खर्च करते हैं अरबों रुपए खर्च होता मकानों के ऊपर जिन मकानों का कोई मूल्य नहीं है धन कमाने के सिवाय धन के ऊपर धन धन के ऊपर धन धन के ऊपर धन वो करोड़पति बनकर के मर जाता है इसके आगे कुछ भी नहीं है उसका समन्वय करो आप कल्पना कीजिए तीन करोड़ रुपया कमा सकते हैं आप ध्यान देना तीन में से एक करोड़ अपने लिए रखिए दो करोड़ का प्रयोग दो करोड़ में कमाइए एक कमाइए एक को छोड़ दीजिए और एक कमाइए उसको राष्ट्र के लिए लगाइए है तीन करोड़ आप ठीक चलेंगे व्यवस्थित चलेंगे और तीसरे करोड़ को क्यों हटाया गया उस करोड़ वाली कमाई उसका परिश्रम काल वो योगाभ्यास विद्याध्ययन विज्ञान की खोज परोपकार दैनिक जीवन परिवार पड़ोस अड़ोस को सुधारना राष्ट्र के लिए काम करना ये भाग वहां लगा देंगे आप एक करोड़ वाला इसलिए वो क्या करता है ना तो वो तीसरे करोड़ वाला अपने जीवन के उत्थान के लिए कुछ करता न राष्ट्र के लिए करता और वो तीन करोड़ कमाना चाहता है लगातार ना अपनी उन्नति है ना विज्ञान की उन्नति है न राष्ट्र के लोगों के लिए खर्चा दे रहा वो तीन करोड़ को इकट्ठा जरूर कर लेगा याद रखना वो वो करोड़ उसके लिए और देश के लिए किसी काम का नहीं इतना ही नहीं किसी काम का नहीं होगा वो विदेशी लोग विरोधी लोग उसको खाएंगे और उसको खा भी नहीं सकेगा ये परिणाम निकलेगा अब ये कितनी मूर्खता की बातें है कितना उल्टा सोचता है धन अपनी जगह पर है उसको उतना रखिए उसके विभाग बना के रखिए धन कमाओ अपने लिए और फिर पात्रों के लिए मनु महाराज ने कहा खूब पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ के चार भेद हैं जो हमें उपलब्ध नहीं है धन संपत्ति उसको न्यायपूर्वक इकट्ठा करो फिर उसकी रक्षा करो फिर उसकी प्रवृत्ति करो बढ़ाओ और पढ़े हुए को पात्रों में दान दे दो ये पुरुषार्थ की चार वेद अप्राप्त की प्राप्ति करना प्राप्त की रक्षा करना रक्षित को <coughs> बढ़ाना बड़े हुए को पात्रों में दान कर देना ये हमारा काम है बोला धन का क्या बनेगा हमने हमारे लिए एक करोड़ हो गया खाएंगे पिएंगे फिर भी वो दो करोड़ बेकार पड़ा रहेगा उसका दुरुपयोग होगा कोई सोचना तो चाहिए कम से कम इसलिए भरतरी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही तीसरा गतयो भवंती वित्त वित्त की तीन गतियां होती है दान भोग और नाश बताओ क्या करोगे बोलो तीन गतियां होंगी धन की आपके बस की बात नहीं है दान भोग उपयोग और विनाश आज आप देखेंगे ये दस लाख का मालिक बना बैठा है ये बीस का बना बैठा है दिल्ली में एक व्यक्ति ने धार्मिक ने कहा भाई तू इसके लिए कुछ दान दो देश जाति के लिए खर्च करो इतने घर का क्या करेगा तू वो माना ही <laughs> माना ही कालांतर में सरकार की ओर से आक्रमण हुआ और दस लाख को इतनी देर में ले गई और रोता रहे बिना सिर पैर का भी वो धन उसने जो भी था भाई कम से कम समाज के लिए झोंक देता उसको दोष था तो कुछ उसमें मिश्रित दोष हो जाता कुछ पाप हुआ था तो पुण्य भी हो जाता कम से कम इतना तो हो जाता वो सारा का सारा आहा हो गया क्या तमाशा बना क्या है ये दिमाग बनाओ ये सोचा करो आप हमारे अपने भारत के लोग ईट पर ईट ईट पर ईट पत्थर पर पत्थर पत्थर पर पत्थर पत्थर पर पत्थर पैसे पर पैसा पैसे पर पैसा पैसे का पैसा क्या कर रहे हो पैसा कर रहे हो <laughs> क्या करोगे मूर्ख बनेंगे फिर पिटेंगे दूसरे लोग इसको खाएंगे ये करेंगे मूर्ख बनेंगे हम निर्बल बनेंगे हम निर्बुद्धि बनेंगे हम कायर बनेंगे हम आपस में झगड़ेंगे हम दूसरे विदेश के लोग को खाएंगे और हमको मार डालेंगे ये करेंगे जी इसके स्वाय को जानेंगे ये मत करो कम से कम आश्चर्य की बात इतना बड़ा देश जिसके पास में इतने साधन धन कमाने के बुद्धिमान इसमें बहुत अधिक है और ये देश रुकता पिटता चला आ रहा है ये भिखारी बन रहा है ये उल्टी बातों को आगे जाता है भारतीयों की परंपरा को मिटाने के लिए तैयार है इसकी राजनीति सारी दूषित हो गई है इसकी कमाई सारी दूषित हो गई है और ये फिर भी अपने आप को ऐसे ही चल रहा है आखिर की तरह इसको होश ही नहीं आता तो ध्यान दो ये मैंने बतलाया धन संपत्ति जो भी है वो बड़े से बड़े विद्वान तैयार करो क्षत्रिय तैयार करो युवकों को तैयार करो ये युवा पीढ़ी होती है इसको मार्गदर्शक चाहिए तैयार करने वाला चाहिए प्रेरणा देने वाला चाहिए यही युवक महापुरुष बन जाएंगे अन्यथा इनका परिणाम शक्ति का प्रवाह चलता है यदि इनको महापुरुष नहीं बनाया तो ये बिल्कुल ठीक उल्टे बने और यही हो रहा राष्ट्र लड़के लड़के याद करके पढ़े लिखे सत्संग में एक दिन ही आना चाहते पढ़ी लिखी लड़की पढ़े लिखे लड़के हमने कहा बहन जी आप वहां सत्संग में आया करें आई समाज में उपदेश चल रहा है उसने कहा जी वहां कोई बहन तो दिखाई नहीं देती और मैं जाऊंगी मेरे स्तर के लोग भी नहीं है वहां मेरे स्तर के लोग नहीं है वहां बैठूंगी कैसे ये पढ़े लिखों की हालत उनको इस सत्संग आने से लज्जा आती वो इसको बिछड़े हुए लोगों का संग समझते हैं ये अंग परंपरा रूढ़ी बात समझते हैं आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति इस हमारे सत्संग को इसको ये पता नहीं तेरा दिमाग जो काम कर रहा है वो मां अंधकार में है हम भूले भटके बिल्कुल नहीं है भूला भटका ये व्यक्ति है जो सत्संग में आने में लज्जा का अनुभव करता है सोचने का इनका दिमाग उस ओर चलिए दफ्तरों तो में नहर के विभाग में चलिए विद्युत विभाग में चलिए विज्ञान के विभाग में चलिए किसी में जाके देखिए वो ये कहने वाला मेरा सत्संग में मेरा जो है तर नहीं है वहां पर लोगों का क्या बैठू क्या उठूं आदि आए उसका चरित्र देखना वहां कार्यालय में जाकर उसका आचरण देखना वो गरीबों को चूस रहा है वहां बैठा बैठा यह है उसकी लज्जा यहां लज्जा नहीं आ रही थी उत्तर प्रदेश में आया वर्षा का प्रवाह और पुल बह गया और बताते बस भी साथ बैठ दो वर्ष की कई बस की बात तो सारी खोज चलती रही क्या हुआ क्यों हुआ ये नया ही पुल तो बना था अभी अभी कहने लगे जी उस पुल में गारा मिट्टी लगा दी वो इसलिए बह गया सारा खा गया एक नहीं आवा कावा बिगड़ा हुआ है एक व्यक्ति रोचक कथा सुनाया करते थे भाई कल्पना से बिच्छों की पंक्ति जा रही थी <coughs> और वो कहने लगा भाई तुम सरदार कौन है उन्होंने कहा तुम हाथ लगा के देख ले वही सरदार <laughs> एक से एक बीछू बना बैठा रही है कहता मुझे सत्संग में लग जाती है तुझे वहां लज्जा नहीं आती गरीबों को चूस रहा रो रहे हो मुकदमे में नीचे से लेके बड़े से बड़े न्यायाधीश का न्याय हो रहा धन इकट्ठा किया जा रहा वहां इसको लज्जा नहीं आती कोई शर्म नहीं आती एक सीधे साधे व्यक्ति को चोरी होती है लाखों रुपए की और पता भी चल जाता है और ये वकील भी जानता है प्राय और न्यायाधीश भी जानता है इनको रिश्वत देकर को उसको जिताया जा सकता है झूठे व्यक्ति को इसको वहां लज्जा नहीं आती ये बनेगा सभ्य इसको डंडा लेके अच्छी कुटाई करता ना गधे की तरह कोई राजा तो इसका दिमाग ठिकाना आ जाता कि ये शिष्टाचार है इसका ये अपने आप को पढ़ा लिखा मानता है अपनी भाषा से मुंह मोड़ता है विदेशी भाषा अकड़ के बोलेगा जब कहीं घमंड दिखाना हो तो अंग्रेजी में बोलो <laughs> उसको दो थप्पड़ मारे क्या कह रहे हो अंग्रेजी बंद कर दो पहले फिर बात करना एक दिन रेल में बैठे रेल में हमारा आरक्षण हो गया माताओं का डिब्बा खाली होता है छोटा सा हमारे दो तीन व्यक्ति थे और हम बैठ गए बैठ गए तो क्या हुआ कुछ वो अंग्रेजी बोलने वाले हुए वो होती है ना वही बात उसने देखा ये पुरुष बैठे हैं ये तो माताओं का है कहने लगे भाई मुझे पता नहीं कैसे बोलता था एटगाउट में क्या बोलते जी क्या बात है ये माताओं का है हिंदी में नहीं हाँ हमने कहा जी हमारे व्यवस्थापक ने हमको यहां रखने दिया है आप पूछ लीजिए फिर धमका रहा है वो डांट पर डांट डांट पर डांट हो रहे आज हम भी इतने तो सीधे नहीं नहीं थे भाई यूं मान लो बस हमने कहा भाई पता तो लाओ आप क्या इसी विभाग में काम करते हो नहीं नहीं वो अपने गए मतलब फिर आप क्या कहते हो क्या अधिकार आपका वो धमकाने से ईश्वर आगे सर क्या हो नहीं तो हमारी सीट खाली कर लेता और सो बैठ जाता मानियो इस उल्टी बुद्धि को विदा कर दो विदेशियों की उल्टी जो अच्छी चीज ले लो तो आप सोचो समझो ये कहां तक चलेगा इतना भयंकर अन्याय सत्यार प्रकाश को पढ़ के देख लो मनुष्य की परिभाषा की है ऋषि ने देख खड़े हो जाएंगे आप कि हम मनुष्य हैं मंतव्य मंतव्य पढ़ के देखो कितना अन्यायकारी राजा हो कितना ही बलवान क्यों न हो उसका विरोध करना है अन्याय का विरोध करना है उसकी बात नहीं मानेंगे पर बैर भाव से नहीं मानते हम आर्य लोग भावना हमारी इसके सुधार की होगी पर अन्यायकारी का विरोध करेंगे हम हम नहीं उसकी बात मानेंगे और ना मानने देंगे ये स्थिति हमको लानी पड़ेगी और ला सकते हैं हम तो इसलिए ईश्वर ध्यान दो अपने पास में जो धन संपत्ति है उससे अपना भी काम करो और युवकों को तैयार करो विद्वान बनाओ क्षत्रिय बनाओ उनके दल बनाओ उनके शक्ति के साधन भी दो सैकड़ों युवक मिल जाएंगे आपको हम तैयार हैं देश जाति के लिए रक्षा के लिए जहां दुष्ट लोग आक्रमण करते हैं हम उसे रक्षा करेंगे पर हमको भाला चाहिए तलवार चाहिए हमको बंदूक भी चाहिए उसके लिए पैसा देने के लिए कोई तैयार अब बताइए कैसे लड़ेंगे वो ये कोई कोई छोटी सी योजना आती है तो करोड़ों रुपया निर्धारित हो जाता है और वो योजना पूरी होती है या कोई देने के लिए तैयार नहीं वो ईंट पर ईंट ईंट पर ईंट पत्थर पर पत्थर पत्थर पर पत्थर लगा रहा सेठ बैंक में फेंक देता है और सो जाता है और हलो हलो करता उठता है हलो हलो करता सो जाता है क्या तमाशा बना रही ना खाता है और न खाने वो हरियाणी के लोग गाया करते थे ये हमारे भजनों पर जगह जैसा डरे वहां खड़ा खेत में खाए ना खाए और क्या गए कुंजी के कुंजी के धन को क्या कहते कंजूस को पूंजी पूंजी बोल हाँ मुंजी कुंजी ये उस मुंजी के धन को क्या आग लगानी है वो तो ऐसा है जैसा ड्रेवा खड़ा खेत में खाए ना खाए ये तो भगवान ने उनको धन दिया है बुद्धि दी है विज्ञान दिया है विद्या दी है स्वयं पढ़ो और आगे बढ़ाओ बस विद्वान बनो विद्या पढ़ाओ धनवान बनो अगले को धनवान बनाओ तो सब संकल्प लेके चलो इन बड़ी विचारधारा आती है जो हिंदू जी है एक आध मुश्किल से पैदा होती है एक आध और आई है जो वो सोचती है और जो उनका नाम है क्या है आचार्य के उसमें सुकामा जी हैं एक और है ऐसे ही ब्रह्मचारिणी वो उत्तर प्रदेश में चोटीपुरा गुरुकुल चलाती उनके पिताजी आई हैं और वो बहुत अच्छा स्तर का गुरुकुल चलता माना जाता है हम ये चाहते हैं ऐसा ही गुरुकुल इसी प्रकार से चले तो उनमें एक कन्याओं का बड़ी कन्याओं का विभाग होना चाहिए छोटियों का अलग हो और जो आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहती है और उनका स्तर अलग हो जैसे ये दर्शन योग विद्यालय का है और उनको उसी स्तर पर योग सिखाया जाए उसी स्तर पर पढ़ाया जाए उसी स्तर पर ब्रह्म कुमारी जैसे तैयार करते तैयार किया जाए और वो माताओं को प्रवेश कर करके कर करके सारे परिवारों को बदल सकती है यह है योजना उनको ऐसा करना पड़ेगा यदि नहीं करते तो विफल हो जाएंगे यदि हमने ये बचाव नहीं किया तो याद रखना कालांतर में आर्य लोग हिंदू लोग भारतीय लोग ईसाई और ये मुसलमान बन के खड़े हो जाएंगे और मतदान पर राजनीति है और राज्य उनका होगा आप देखते रहना यदि ध्यान नहीं दिया तो यही होगा ध्यान दिया तो इसको नहीं होने देंगे कितनी कमजोरी है इस व्यक्ति की भारतीयों के दिमाग में जातिवाद का भूत भयंकर बीमारी अंदर घुस गई है जन्मजात की बात कितना भयंकर रोग है राजनीति में ये इससे काम ले रहे हैं घरों में इससे काम लेते हैं प्रांतों में इससे काम लेते हैं इतना भयंकर दोष है ये और ये दोष किसी को जीने नहीं देता कितना बुरा काम है वही कान हाथ पैर हमारे वही इनके वही हरिजनों के और वही उनके हम उनसे घृणा करें जातिवाद को लेके उनका शत्रु बना बैठे अब देखेंगे कि दस करोड़ के लगभग जहां तक मेरे जानकारी है ये हरिजन लोग कहलाते हैं उस वर्ग के और हमारे लोग उनसे घृणा करते हैं उनको नीचा मानते हैं बिना खाने के नीचा मानते हैं उनसे घृणा करते जाते हैं और घृणा करने के व्यक्ति कितने भूखा मर जाए तो भी साथ में नहीं आएगा अपमान को नहीं सह सकता व्यक्ति सदा अपमानित होते होते जीवित नहीं रहना चाहता बुद्धिमान व्यक्ति वो अंत में शत्रु बन के रहेगा और वो शत्रु बनेंगे और बन चुके होंगे और अंत में हमारा विरोध करेंगे और हमको उखाड़ के फेंक देंगे भला परिणाम क्या निकला वही मनुष्य हुए हैं वही हम हैं एक ही माता पिता के पुत्र हैं हम वो भी आर्य है हम भी आर्य हैं आर्यावर्त देश हमारा है और उनका अपने अंदर क्यों नहीं मिलाते क्या बीमारी है क्या आपने ठेका ले लिया है क्या परमात्मा का मंदिरों का पूजा का ठेका ले रखा है आज अब भी वही बात उनको सब जगह पूजा के स्थान जितने कहे जाते जो भी कोई है वो बराबर अधिकारी होने चाहिए कोई नहीं रोक सकता बल्कि हृदय से कहो आओ आप भी ऐसा कर दूसरा भाग याद रखिए जो कठिन भी है ये जो जातिवाद चलता रहता है इस जातिवाद के कारण इतने अनर्थ होते हैं ये जितने भी हमारी बहने होती है कितने ऐसे व्यूहा होते हैं जातिवाद के कारण वो अपने संबंधी में विवाह नहीं करवा पाती वो उन विदेशियों के जाके विवाह करती विदेशी लोगों के जाके और यह भी याद रखिए उनकी अच्छी से अच्छी लड़की ना तो आना चाहेगी और कोई आए भी तो आप लेने के लिए तैयार नहीं ये है दिमाग कितना अन्याय हो रहा है पहले तो उनको पाठ पढ़ाया जाता है कि तुम उन मत चले जाना और कोई लड़की भूल भटक के आ भी जाए तो कोई व्यक्ति इस वर्ग का उसको लड़की को अपनी लड़की मान के या पुत्र बधु मान के रखने के लिए तैयार नहीं है इतना विनाश इतनी भयंकर है आपत्तिजनक अवस्था पैदा कर दी गई वो लोग बढ़ते जाते हैं वो मिला लेते हैं चाहे जिसके साथ विवाह करते हैं चाहे जिस लड़की को ले लेते हैं और कोई बात नहीं उनकी संख्या बढ़ती जाती है उनसे लोग प्यार करते हैं वो मनुष्य को मनुष्य समझते हैं और हमारे लोग घृणा करते जाते हैं ये स्थिति आपके सामने है इस जातिवाद को मिथ्या जातिवाद को आप घर से निकाल दो आपको भी प्यारा लगता होगा ये जातिवाद मन में वो दुष्ट भावनाएं बैठी हुई होती है उनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा जातिवाद की जो विचारधारा अंदर घुसी हुई रहती है ऋषियों के सिद्धांतों के आधार पर और योग विद्या के आधार पर इसको उखाड़ा जा सकता है नहीं तो नहीं उखाड़ सकते आप इस जातिवाद हृदय से निकलता ही नहीं कितना ही उपदेश सुनने पर भी वो जातिवाद के दिमाग में बैठा रहता तो जातिवाद को समाप्त कर देना चाहिए और उसमें सभी हम एक हैं हमारा धर्म एक है ईश्वर एक है हमारा देश है और इस रूप में प्रचार करना दूसरी उपेक्षा याद रखना हमें क्या करते हैं हमारी ये बने अथवा उस भाषा में ये बोलेंगे हम हिंदुओं की परंपरा जी को हिंदू बोल देते हैं उसमें रुचि नहीं उसमें कोई आकर्षण नहीं उपेक्षा और दूसरों की ओर जाने में बड़ी रुचि ये जो भारत के रहने वाले हैं लाखों हिंदू आर्य भारतीय ईसाई बने घूम रहे हैं और दिन रात प्रचार करते हैं दिन रात प्रचार में लगे हुए हैं वो अपने यहीं के लोग हैं वो यहीं के रहने वाले हैं यहीं उनका जन्म हुआ है यही रूप रंग है वो है ईसाई ईसाई है और वेद का ऋषियों का उपनिषदों का विरोध करते हैं और बाइबल का प्रचार करते हैं बड़े बड़े चौराहे पर जाके खड़े हो जाते हैं अच्छी से अच्छी बाइबल या दूसरे उपदेश की पुस्तक कार वाले को देते हैं हाथ में बांटते हैं दिल्ली जैसे नगरों में जाके देखो स्टेशनों पर जाके देखो पर्चा वहां रख जाएंगे बड़ा अच्छा होगा आगे पड़ेगा तो उसमें वही ईसा मसीह की विशेषताएं नहीं आपको क्यों आग नहीं लगती अपने मन में ये सब कुछ हो रहा होता है ये व्यक्ति आंख ही नहीं खोल के देखता कि हो क्या रहा सोचना सीख लो जब युद्ध होता है आक्रमण होता है तो बुद्धिमान व्यक्ति तैयारी करता है सज्जा करता है साधनों को इकट्ठा करता है विरोध की चीजों को उखाड़ने के उपायों को ढूंढता है वो बच जाता है शेष व्यक्ति नहीं बचते इसलिए तैयारी करो सब स्तरों पर अब समय पर्याप्त हो गया है आपने इसमें भाग लिया है सब उपदेश ये पठन पाठन क्रिया रूप देने के लिए है हमारे हो गया सो तो हो गया बोल रहे थे क्या समझा हमारे हो गया सो तो हो गया बोल रहे थे नहीं समझा गया <laughs> तो हो गया उसका नाम हो गया सो हो गया बोल रहे थे ना कार्य व साधेयम देहो व पातेयम ये संकल्प चलेगा हमारा कार्य का सिद्ध करेंगे नहीं तो देह को छोड़ के अगला जन्म में जाके अगले में करेंगे पर इससे ही विरोध मुड़ने वाले नहीं ऐसे दिमाग बनाओ विचार बनाओ जीना इसी का नाम है, हैं? एक हमारे धर्मानंद जी थे वो बोला करते थे पर में क्या बोलते थे मन जीत लिया जिसने जीना तो उसी का है मन जीत लिया जिसने जीना तो उसी का है मन जी जलने को तो लाखों दुनिया में चल रहे हैं जलने को तो लाखों दुनिया में चल रहे हैं पर मंजिल पर जो पहुंचे चलना तो उसी का है पर मंजिल पर जो पहुंचे चलना तो उसी का है मन जीत लिया जिसने जीना तो उसी का हमको तो ऐसे आनंद आता है आपको कैसे आता मुझे पता नहीं बढ़िया <laughs> बढ़िया हाँ। तो ये बस प्रतिदिन प्रति मिनट बस ऐसे सोचना ये उल्टी चीज है इसको उखाड़ के फेंको और ये अच्छी चीज इसको प्राप्त करो फिर अपने आप प्राप्त करो दूसरे को प्राप्त करवाओ दूसरे में दोष उसको उखाड़ के फेंको उसमें अच्छाई है उसको लाके आधार कर दो सोचना सीख लो ये सोचने की बात है मन वो मनुष्या नाम कारण बंध मोक्ष यो मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है ये विचार शैली ही मोक्ष और बंध को प्राप्त करवाती है तो हम प्रयास करें ईश्वर की सहायता मिलेगी और बस जो कुछ करना है करके दिखाओ इसी में आनंद है बहुत आनंद है पर याद रखना सब काम करना सब प्रकार की बातें करना समाज की उन्नति भी करना पठन पाठन भी करना धन की सहायता भी देना पर याद रखना ईश्वर को न भूलना ईश्वर को न छोड़ना ईश्वर से अपना सानिध्य न तोड़ना और उसकी प्राप्ति के अतिरिक्त कोई लक्ष्य नहीं बनाना इसको कभी नहीं भूलना कुछ भी हो सकता है कुछ भी करें काम अच्छे करें पर यह बात यदि छूट गई तो मनुष्य का जीवन बेकार है सफलता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी अब विराम आगे कर यम नियमों पर विचार करते हैं पिछले दिनों पांच यमों पर हमने विचार किया आज नियमों पर विचार करेंगे जैसे पांच यम हैं ऐसे ही पांच नियम भी हैं छोटी पुस्तिकाओं में पृष्ठ संख्या चार पर पांच नियमों की परिभाषाएं लिखी हैं पहला नियम है शौच शौच का अर्थ है शुद्धि परिभाषा लिखी है शुद्धि दो प्रकार की है पहली बाह्य शुद्धि और दूसरी आंतरिक शुद्धि बाह्य शुद्धि को बतलाया है शरीर वस्त्र पात्र स्थान खान पान तथा धनोपार्जन को पवित्र रखना बाह्य शुद्धि है तथा विद्या सत्संग स्वाध्याय सत्य भाषण व धर्माचरण से मन बुद्धि आदि अंतकरण को पवित्र करना आंतरिक शुद्धि कहलाती है तो ये शौच की परिभाषा है शौच का अर्थ है शुद्धि सफाई करना और उसके दो भाग एक बाहर की सफाई करना एक आंतरिक सफाई करना शुद्धि करना बाहर की सफाई तो साबुन से मिट्टी से पानी से झाड़ू पोछा लगा करके हो जाती और खान पान आदि में शुद्धि पवित्रता रखना धन कमाने में ईमानदारी से धन कमाना ये सब बाहर की शुद्धि है और आंतरिक शुद्धि में साधन बताए हैं विद्या सत्संग स्वाध्याय सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना इन सब साधनों से जो अंतकरण है मन बुद्धि इत्यादि इनको पवित्र रखना यह है आंतरिक शुद्धि कहलाती है इसके बारे में कुछ चर्चा आप प्रातःकाल की कक्षा में भी सुन चुके हैं दूसरा नियम है संतोष इसकी परिभाषा भी पृष्ठ पांच पर है अपने पास विद्यमान ज्ञान बल तथा साधनों से पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात जितना भी आनंद विद्या बल धन आदि फल के रूप में प्राप्त हो उतने से ही संतुष्ट रहना अर्थात प्रसन्न रहना उससे अधिक की इच्छा न करना संतोष कहलाता है व्यास जी महाराज ने भाष्य में लिखा है सन्निहित साधना अधिकस्य अनुपादित सा कि जितने साधन सन्निहित हो जाएं, उपलब्ध हो जाएं, प्राप्त हो जाएं, पुरुषार्थ करने के उपरांत पुरुषार्थ करने के पश्चात जो कुछ भी हमको साधन खाने पीने भोगने आदि को प्राप्त हो उससे अधिकस्य अनुपादित सा अधिक की प्राप्त करने की इच्छा न रखना उतने में ही प्रसन्न रहना ये संतोष कहलाता है प्रातःकाल भी थोड़ा संकेत किया था कि पुरुषार्थहीन हो जाना आलसी प्रमादी हो जाना कुछ परिश्रम ही नहीं करना और सब कुछ भाग्य भरोसे छोड़ देना इसका नाम संतोष नहीं है जब लोगों ने संतोष का स्वरूप ठीक से नहीं समझा तो आलसी प्रमादी हो गए पुरुषार्थ करना छोड़ दिया और भाग्य भरोसे बैठे रहे परिणाम ये निकला कि जो उन्नति कर सकते थे वो छूट गई आज भी भारत में भी और विदेशों में भी जो अंधविश्वासी लोग हैं अंध परंपराओं को मानने वाले हैं वो सब कुछ भाग्य भरोसे छोड़कर बैठे रहते हैं चाहे विदेशी लोग देश पर आक्रमण करें चाहे कोई दूसरा अन्याय होता हो सब भाग्य भरोसे छोड़कर बैठे रहेंगे और कहेंगे हम तो संतोष का पालन करते हैं जो होगा सो हो जाएगा हमें इसकी कोई चिंता नहीं तो ये संतोष का अर्थ नहीं है आपत्ति से बचने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए उन्नति के लिए पूरा परिश्रम करना चाहिए फिर भी उसके बाद जितना उसमें प्रसन्न रहना चाहिए और आगे के लिए फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ये संतोष का अभिप्राय है तीसरा नियम है तप धर्माचरण रूप उत्तम कर्तव्य कर्मों को करते हुए भूख प्यास गर्मी सर्दी हानि लाभ मान अपमान आदि द्वंद्वों को पूर्वक सहन करना तप कहलाता है तो तप के बारे में थोड़ी सी चर्चा प्रातःकाल भी की थी कि बहुत से लोग व्यर्थ में ही गर्मी के दिनों में चारों ओर ईंधन जलाकर बैठ जाते हैं और ठंडी के दिनों में बर्फ की सिल्लियों पर बैठ जाते हैं तो इसका नाम तप नहीं है भाष्य में यद्यपि ये बातें लिखी तो हैं शीतोष्ण आसने की गर्मी सर्दी को सहन करना इन द्वंद्वों को सहन करना ये तप कहलाता है तपो द्वंद्व सहनम की व्यास्य ने लिखा है कि इन जोड़ों को जो गर्मी ठंडी आदि जोड़े हैं इनको सहन करना तप है परंतु उसका यह स्वरूप नहीं है कि बर्फ की सिल्लियों पर बैठ जाए या आग में आग के धूप में आग जलाकर चारों ओर उसके बीच में जाकर बैठ जाए ये स्वरूप नहीं है स्थान आतने की भी यही बात है स्थान का अर्थ है खड़े रहना स्था धातु स्था माने स्थित रहना खड़े रहना और आसन माने बैठ जाना आस बैठने के लिए धातु है तो जैसे कि मैंने प्रातःकाल भी निवेदन किया था आप यहां घंटों बैठे बैठे रहते हैं और कष्ट होता है तो उसको सहन करते हैं तो ये तप कहला सकता है क्योंकि यहां बैठने से आपको विद्या मिलती है कुछ अपनी उन्नति के लिए समाज की उन्नति के लिए कुछ विद्या प्राप्त होती है यहां बैठने से आपको लाभ होगा फिर आप दूसरों को भी लाभ दे सकेंगे तो अपनी उन्नति होती है समाज की उन्नति होती है इस उन्नति में यदि हमको बैठे बैठे कोई कष्ट होता है थोड़ा बहुत तो उसको सहन करना चाहिए ये तो तब ठीक है पर एक व्यक्ति ना विद्या बढ़ता है ना कुछ और ऐसे आसन लगाकर बैठा रहे आठ वर्ष तक दस वर्ष तक तो उससे कोई किसी की उन्नति नहीं होती इसलिए उसका नाम तप नहीं है ऐसे ही खड़े रहने की बात है एक व्यक्ति को हमने देखा बहुत पहले की बात है बचपन की चंडीगढ़ में हरियाणा की पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ वहां सेक्टर 19 में एक मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे एक झूला था उसने लटका लिया गुजरात में झूले बहुत होते हैं ऐसा झूला लटका लिया और उसके ऊपर एक टांग रख दी और एक टांग जमीन पर तो एक टांग पर ऐसे खड़ा हुआ तो पता लगा कि ये कब तक खड़ा रहेगा तो लोगों ने बताया बारह वर्ष तक खड़ा रहे एक टांग पर अभी दो ही दिन दो ही तीन दिन हुए थे उसको खड़े हुए तो हम अपनी मौसी जी के यहां गए थे छुट्टियां मनाने के लिए तो हमको पता लगा तो हमने कहा चलो देख कर पाए कैसा आदमी तो ऐसे एक साधु टाइप का था बाल बाल बढ़ा रखे थे गाड़ी बढ़ी हुई थी और खड़ा हुआ था एक टांग के ऊपर हमने कहा बड़ा विचित्र आदमी है बारह साल तक खड़ा रहेगा लेकिन दो ही दिन के बाद पता लगा कि रात को वो जो मंदिर था उस मंदिर में कोई सोने की मूर्ति होगी हनुमान जी की वो रात को सोने की मूर्ति चुरा के भाग गया फिर पता चला कि ये वहां क्यों खड़ा हुआ तो ऐसा जो लोग ढोंग करते हैं नाटक करते हैं कि हम बारह वर्ष तक खड़े रहेंगे और लक्ष्य उनका कुछ और ही होता है तो ये खड़े होकर तप करने का कोई अर्थ नहीं मान लो चोरी ना भी करता हो और खड़ा ही रहता बारह वर्ष तक तो इससे लाभ क्या था कुछ भी नहीं न उसकी कोई व्यक्तिगत उन्नति थी न समाज की उन्नति थी तो जिस तप को करने से जिस कष्ट को सहने से व्यक्ति की अपनी कोई उन्नति नहीं होती परिवार की कोई उन्नति नहीं होती समाज की कोई उन्नति नहीं होती देश और विश्व की कोई उन्नति नहीं होती ऐसे व्यर्थ में कष्ट उठाना ये तप नहीं कहलाता और जिस कष्ट को सहने से उसकी व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय अथवा विश्व की किसी भी प्रकार की कोई उन्नति होती हो तो उस कार्य में उसको कष्ट सहन करना चाहिए वो तप के अंतर्गत आता है तो ये खड़े रहना भी तब तप हो सकता है जब उससे किसी को सुख मिलता हो मान लिया आप बस में यात्रा कर रहे हैं और तीन घंटे की यात्रा है दो घंटे की यात्रा है और बस में भीड़ बहुत अधिक हो गई कल्पना कीजिए कोई माता बहन भीड़ में बस में चढ़ी और उसके पास छोटा बालक है भीड़ में वो खड़ी नहीं हो सकती बच्चा छोटा है तो अपने आप को संभालना और फिर बच्चे को संभालना बहुत कठिनाई है और आपके पास सीट अच्छी मिली हुई है सुविधापूर्वक बैठने की तो ऐसी स्थिति में यदि हम खड़े हो जाए और उसको सीट दे दें बैठने की हमको थोड़ा कष्ट होगा एक दो घंटा खड़े रहना पड़ेगा पर उसको सुख मिलेगा एक बहन को सुख मिलेगा बच्चे की भी रक्षा होगी तो ऐसे दूसरे के सुख के लिए यदि हम खड़े होकर कष्ट उठाएं ये तो तब हो सकता है इससे दूसरे की उन्नति हुई दूसरे को सुख मिला ये तो खड़े रहना तब के अंतर्गत माना जाएगा ऐसे व्यर्थ में कोई दस वर्ष तक खड़ा रहे बारह वर्ष तक खड़ा रहे एक टांग के ऊपर वो तप नहीं उससे किसी की कोई उन्नति या सुख नहीं बढ़ता तो ये स्थान आतने के संबंध में मौन की बात है तप की ऐसे ही मौन रहने की बात भी है व्यक्ति वाणी पर संयम नहीं कर सकता उसे कहा जाए कि आप सारा दिन मत बोला करें दो घंटा चार घंटा छह घंटा मौन रहें तो मौन रहना बहुत कठिन कष्ट होता है व्यक्ति मौन रहना नहीं चाहता तो मौन रहना भी तब के अंतर्गत है और उसका भी कोई विधि विधान होना चाहिए एक व्यक्ति दिन में दो घंटा कम से कम मौन रहे इससे उसका वाणी पर संयम होता है उन्नति होती है और व्यर्थ में एक व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि मैं दस वर्ष तक बात ही नहीं करूंगा बोलूंगा ही न पढ़ूंगा न पढ़ाऊंगा न कोई विद्या का प्रचार प्रसार करूंगा कोई उन्नति नहीं करूंगा तो वो तो बाधक हो जाएगा हाँ सारे दिन में वो दो घंटा तीन घंटा चार घंटा मौन का नियम पालन करे अपना ध्यान करे चिंतन करे मनन करे स्वाध्याय करे तो ऐसा मौन रखना तो लाभकारी हो सकता है और ये तप के अंतर्गत माना जा सकता है मान लिया उसने दो घंटा सुबह मौन रहने का नियम बनाया कि चार पांच बजे मैं सुबह उठता हूं और सुबह सात बजे तक किसी से नहीं बोलूंगा अपना ईश्वर के चिंतन में रहूंगा सारी दिनचर्या स्नान आदि आदि जो भी क्रियाएं करनी होंगी ध्यान आदि सब मौन रह करके ही करो सात बजे के बाद बातचीत शुरू करो ऐसा उसने दो घंटा तीन घंटे का सुबह नियम बना लिया फिर मध्यान्ह में फिर उसने एक दो घंटे मौन का नियम बना लिया ऐसे ही सायंकाल ध्यान के समय उपासना के समय एक घंटा बात नहीं करूंगा तो इस प्रकार से दिन में आवश्यकता अनुसार दो चार घंटा पांच घंटा वो मौन का नियम पालन करे तो इससे उसकी बहुत उन्नति हो सकती है तो इस प्रकार से मौन रहना भी तप के अंतर्गत आता है और मान अपमान को सहन करना इसकी बात भी प्रातःकाल आप सुन चुके हैं हानि लाभ को सहन करना कभी हानि भी होती है किसी प्रकार की हानि हो जाती है कोई वस्तु नष्ट हो गई कभी कोई लाभ भी हो जाता है धन का लाभ और भी अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं तो कभी हानि हो गई कभी लाभ हो गया तो दोनों को सहन करना चाहिए अर्थात जब हानि हो तो दुखी नहीं होना चाहिए और लाभ हो जाए तो बहुत खुश नहीं होना चाहिए गीता में ऐसी बहुत सी बातें आती हैं एक श्लोक में कहा है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय कि सुख और दुख को समान करके व्यक्ति दिए सुख में प्रसन्न नहीं हो दुख में दुखी नहीं हो समभाव से जिसको बोलते हैं समत्वम योग उच्चते समभाव से रहे ऐसे ही जैसे सुख दुख की बात कही ऐसे ही सुख दुख है समय कृत्वा लाभालाभ लाभ लाभ और अलाभ हानि लाभ हो चाहे हानि एक जैसा रहना चाहिए लाभ हो जाए तो बहुत प्रसन्न हो जाए बहुत खुशी हो जाए बहुत कूदने लगे और हानि हो जाए तो उदास हो जाए रोना पीटना शुरू कर दे ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसे ही जय हो चाहे विजय हो चाहे पराजय हार जीत की भावना ही नहीं रखी होती रहती है बाकी घटनाएं होती रहती है हार जीत की भावना न बनाए ऐसी घटना होने पर भी वो सुखी दुखी न हो और अपने आप को समान बनाए रखने का प्रयास करे ये तब कहलाता है इसका नाम योग है योगाभ्यास है तो इसी प्रकार से आवश्यकता अनुसार कर्तव्य कर्मों को करते हुए जो जो आपत्तियां आती हैं चाहे भूख प्यास हो भूख प्यास भी आती है कभी कभी कभी आप यात्रा में जा रहे हैं खाने को भोजन ही नहीं मिला सारे दिन भर भोजन नहीं मिला अथवा जिस कार्य से कहीं पर गए थे मित्र संबंधी के यहां वो व्यक्ति ही घर पर नहीं मिला तो भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई कोई बात नहीं कभी कभी भूख को भी सहन करना चाहिए और कभी भोजन थोड़ा ही था एक अतिथि आ गया तो अपना भोजन उसको खिला दिया उस दिन हमने तपस्या कर ली भाई भूख को सहन करो तो ऐसे अवसरों पर तो दूध को सहन करना तब कहला सकता है और व्यर्थ में एक एक सप्ताह तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे उससे शरीर को हानि भी हो सकती है इसलिए हानि उत्पन्न करने वाला तप नहीं करना चाहिए तो इस प्रकार से प्यास को भी सहन करना कभी पानी मिलता है कभी नहीं भी मिलता तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति दुखी ना हो खिन्न ना हो चिल्लाए नहीं शांतिपूर्वक इन आपत्तियों को सहन करे ये तपस्या कहलाती है ये चौथा नियम है स्वाध्याय मोक्ष की प्राप्ति करने वाले वेद आदि मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले होना चाहिए करने वाले छपया कराने वाले वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ना ओम आदि पवित्र मंत्रों का जप करना तथा आत्मचिंतन करना स्वाध्याय कहलाता है तो इसकी परिभाषा जैसा कि व्यास भाषा में लिखी है प्रातः काल भी थोड़ी सी सुनाई थी स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्राणव जपो व मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना जो शास्त्र मोक्ष अथवा मुक्ति का स्वरूप बतलाते हैं कि मुक्ति क्या चीज है कैसे प्राप्त होती है साधन क्या है उसमें बाधाएं क्या है आदि आदि इस संबंध में जो शास्त्र व्याख्यान करते हैं उन शास्त्रों का नाम है मोक्ष शास्त्र तो उनको पढ़ना चाहिए उनका अध्ययन करना चाहिए जैसे वेद है दर्शन है उपनिषद साहित्य है इसी प्रकार से ब्रह्म विद्या से मोक्ष विद्या से संबंध रखने वाले शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना और ओम आदि आदि जो अच्छे उत्तम वेद मंत्र हैं पवित्र मंत्र हैं उनका जप करना ओम का जप कर सकते हैं गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं इस तरह से प्राणायाम मंत्र उसका जप कर सकते हैं तो इन मंत्रों का जप करना ये स्वाध्याय कहलाता है और एक स्वस्थ अध्ययनम स्वाध्याय ये भी एक सामान्य परिभाषा चलती है कि अपना अध्ययन करना जिसको हम मोटी भाषा में आत्मनिरीक्षण कहते हैं गुजरात वाले आत्म परीक्षण कहते हैं तो अपना परीक्षण करना अपना निरीक्षण करना देखना कि हम कितनी उन्नति कर रहे हैं और कितना नीचे जा रहे हैं ऐसा अपना अध्ययन करना ये भी स्वाध्याय कहलाता है ये आत्मनिरीक्षण प्रातःकाल सायंकाल आप यहां पर देखते सुनते होंगे ऐसा जो आत्मनिरीक्षण है ये योगाभ्यासी को करना बहुत आवश्यक है इसके बिना योगाभ्यासी उन्नति विशेष नहीं कर पाता उसे पता ही नहीं चलता कि मैं कितना ऊपर उठा कितना नीचे उतरा जैसे अभी अभी दीपावली गई और गुजरात में तो दीपावली पर नया वर्ष आरंभ मानते हैं यहां की परंपरा के अनुसार और कुछ लोग पहले तो अपने दुकान के खाते भी दीपावली पर ही आरंभ करते थे तो दीपावली पर आरंभ करें या वर्ष में कभी भी करें वर्ष में दुकानदार सारे साल का हिसाब किताब लगाता है वर्ष पूरा हो जाने पर और देखता है कि एक वर्ष में हमने क्या कमाया कितना लाभ प्राप्त किया और कितनी हानि हुई सारा हिसाब किताब करता है भाई खाता मिलाता है तो जैसे सांसारिक व्यापार व्यवहार में हम पूरे साल भर का हिसाब करते हैं कि एक साल में क्या कमाया और क्या खोया इसी प्रकार से अपने जीवन का भी हमको हिसाब किताब करना चाहिए कि हमारे जीवन का एक वर्ष बीत गया इस एक वर्ष में हमने जीवन में आध्यात्मिक धन क्या कमाया आध्यात्मिक क्षेत्र में हमने क्या उन्नति की और कितना पतन हुआ कितना स्तर हमारा नीचे गिरा इस प्रकार से आध्यात्मिक व्यापार का भी हमको हिसाब किताब रखना चाहिए और ये वर्ष में ही नहीं बल्कि हर रोज इसका हिसाब किताब देखना चाहिए दोनों प्रकार से जैसे व्यापारी हर रोज भी बही खाता मिलाता है एक दिन में कितना आय व्यय हुई रोजनामचा जिसको बोलते हैं वो रोजनामचा भी लिखता है और फिर महीने महीने के अंत में भी मिलाता है फिर साल के अंत में भी मिलाता है इसी प्रकार से योगाभ्यासी को भी एक एक दिन का भी हिसाब करना चाहिए कि आज के दिन में क्या उन्नति हुई कौन सा अच्छा काम किया कौन से समाज की सेवा की और ध्यान में स्वाध्याय में शास्त्रों के अध्ययन में ज्ञान कर्म उपासना में कितनी हमने शुद्धि प्राप्त की कितने मोक्ष मार्ग के लिए उन्नति की ये उसको प्रतिदिन हिसाब लगाना चाहिए इसका नाम है आत्मनिरीक्षण इसी का नाम है स्वाध्याय और फिर जब और आगे योग्यता बढ़ती है तो योगाभ्यासी को एक एक घंटे में आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है कि पिछले एक घंटे में मैंने कोई बुरा काम तो नहीं किया कोई बुरी बात तो नहीं सोची मन में एक एक घंटे में उसको आत्मनिरीक्षण अध्ययन करना पड़ता है फिर जब और योग्यता बढ़ती है तो पंद्रह पंद्रह मिनट में फिर और योग्यता बढ़ती है तो एक एक मिनट में वो अध्ययन करता है अपना कि मन में कोई बुरी बात तो नहीं सोच रहा उसको एक एक मिनट सावधान रहना पड़ता है फिर और योग्यता बढ़ती है तो हर क्षण एक एक सेकंड में वो सावधान रहता है कि कोई बुरी बात तो मन में नहीं सोची कोई बुरा काम तो नहीं किया या कर तो नहीं रहा या बुरे कार्य करने की योजना तो नहीं बना रहा इस प्रकार से उसको अपना अध्ययन करना पड़ता है ये स्वाध्याय है ऐसा योगाभ्यासी को करना अत्यंत आवश्यक है इसके बिना वो अपने अपने आप को इस मार्ग पर ठीक ठीक नहीं चला सकता वो अवश्य ही यहां से मार्ग से गिर जाता है उसका पतन होता है तो ये स्वाध्याय के संबंध में कुछ बातें बतलाई और अंतिम नियम है ईश्वर प्रणिधान इसकी परिभाषा पृष्ठ छह पर है शरीर बुद्धि बल विद्या धन आदि समस्त साधनों को ईश्वर प्रदत्त मानकर उनका प्रयोग मन वाणी तथा शरीर से ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही करना लौकिक उद्देश्य अर्थात धन सम्मान यश आदि की प्राप्ति के लिए न करना ईश्वर परिधान कहलाता है तो व्यास जी महाराज ने भी ऐसा ही लिखा है सर्वक्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा ये ईश्वर परिधान से वाणी से शरीर से जितनी भी क्रियाएं करते हैं अच्छी और बुरी वो सब क्रियाएं परम गुरु ईश्वर के सामने हमको अर्पित कर देनी चाहिए समर्पित कर देनी चाहिए रख देनी चाहिए और जितना भी हमको ईश्वर से सामर्थ्य मिला है मन इंद्रिया बुद्धि शरीर धन विद्या आदि आदि इन सब साधनों को हम ईश्वर प्रदत्त माने ये सब ईश्वर की हुई संपत्ति है ईश्वर ने हमको ये सारे योग्यता धन संपत्ति भौतिक साधन दिए हैं और इनका उपयोग हमको अच्छे कार्यों में करना चाहिए ईश्वर के आदेश के अनुसार करना चाहिए जिन कार्यों को करने के लिए ईश्वर ने आदेश किया है उन्हीं कार्यों को हम इन संपत्ति से संपादित करें और जिन कार्यों को करने के लिए ईश्वर ने निषेध किया है उन कार्यों को न करें इन ईश्वर की दी हुई वस्तुओं का प्रयोग उन कार्यों में न करें जिसके लिए ईश्वर ने मना किया है और जो भी हम कार्य करें ईश्वर के आदेश के अनुसार तो करें परंतु इसके साथ साथ तब फल संन्यास होगा उन कर्मों का सांसारिक फल न जाए सांसारिक फल की इच्छा न रखे मन में सांसारिक फल क्या है जैसा कि लिखा है धन सम्मान यश कीर्ति प्रतिष्ठा इत्यादि एक व्यक्ति अच्छा काम करता है समाज की सेवा करता है गरीबों की मदद करता है उनको दान देता है विद्यार्थियों की सहायता करता है रोगियों की सेवा करता है चिकित्सा का काम करता है आदि आदि ये ईश्वर के बताए हुए कार्य हैं इन कार्यों को करना चाहिए और वो करता है अच्छे काम परंतु इन कार्यों को करते हुए मन में ये इच्छा रखता है कि इस कार्य के बदले में मुझे कुछ धन मिलना चाहिए कुछ सम्मान मिलना चाहिए कुछ प्रतिष्ठा होनी चाहिए और लोग यहां मंच पे बुला के मेरा सम्मान करें कुछ हार वार पहनाएं कुछ दान दक्षिणा दें और समाचार पत्र में फोटो भी छपनी चाहिए लोग कहें देखो कितना अच्छा आदमी है समाज के लिए सब कुछ तन मन धन लगाता है तो मन में ऐसी इच्छा उसके रहती यदि ऐसी इच्छा रहती है तो ये ईश्वर प्रणिधान नहीं कहलाएगा सिद्धांत तो से ये विरुद्ध हो जाएगा उसने सांसारिक फल की इच्छा कर ली है मन में और व्यास जी कहते हैं कि प्रणिधान समर्पण करना हो तो किस इच्छा को छोड़ना पड़ेगा हम सब कुछ समाज की सेवा के लिए लगा देंगे तन मन धन सब लगा देंगे फिर भी उसके बदले में हमको सांसारिक फल कुछ नहीं चाहिए ऐसा यदि कर लेते हैं तो तो ईश्वर समर्पण ठीक है और इसका फल जो प्रातःकाल हमने पढ़ा था समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानार्थ तो समाधि की सिद्धि हो जाएगी ऐसा करने से और यदि ऐसा नहीं करते मन में इच्छाएं रखते हैं तो ठीक है वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी धन सम्मान भी मिल जाएगा पर ईश्वर हमको स्वीकार नहीं करेगा समाधि हमको प्राप्त नहीं हो पाएगी ये सांसारिक फल की इच्छा करना ये समाधि में बाधक है तो ईश्वर संविधान के अंतर्गत यह आवश्यक है कि जो हम अच्छे काम करें ईश्वर के आदेश के अनुसार करें ईश्वर की दी हुई शक्ति संपत्ति विद्या बल बुद्धि मानकर करें अपनी विद्या नहीं अपना बल सामर्थ्य धन संपत्ति मानकर नहीं और करते हुए भी सांसारिक फल की इच्छा न करें फिर यह शंका हो जाएगी फिर जब फल की इच्छा ही नहीं करेंगे तो कर्म क्यों करेंगे बिना फल की इच्छा के तो कोई कर्म होता ही नहीं तो यहां पर फल की इच्छा इतनी मात्र रहेगी कि हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं ईश्वर को देखना चाहते हैं ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं हम ईश्वर से अपना संबंध बनाना चाहते हैं ईश्वर से मित्रता बनाना चाहते हैं संसार के दुखों से छूटना चाहते हैं बस ये लक्ष्य तो हो सकता है संसार के दुखों से हम छूटने के लिए ये काम कर रहे हैं ईश्वर का आदेश है इसलिए हम ये काम कर रहे हैं बदले में धन सम्मान हमको कुछ नहीं चाहिए तो ऐसी भावना बना करके हम उन कार्यों का संपादन कर सकते हैं और ऐसा ही करना ईश्वर समर्पण है ईश्वर प्रणिधान है और दूसरी बात आगे लिखी है ईश्वर मुझे देख सुन जान रहा है ये भावना भी मन में बनाए रखना ईश्वर प्रणिधान है ये कर्म करते समय की बात है जब हम कर्म करेंगे अच्छा काम करेंगे तो मन में ये भावना बनी रहे कि इस समय ईश्वर मुझको देख रहा है मेरे कर्म को जान रहा है मेरी बातों को ईश्वर सुन रहा है वेद में ऐसे अनेक मंत्र आते हैं कि जो व्यक्ति किसी को धोखा देता है किसी को मूर्ख बनाता है किसी को ठग लेता है अथवा छुपकर कोई चोरी करता है कोई बुरा काम करता है अथवा दो व्यक्ति मिलकर आपस में कोई गुप्त मंत्रणा करते हैं योजना बनाते हैं तो वहां पर यह नहीं भूल जाना चाहिए कि ईश्वर वहां पर विद्यमान नहीं है ऐसा नहीं सोचना चाहिए दो व्यक्ति जब मिलकर बैठते हैं तो तीसरा वहां पर बैठा उनकी बात सुन रहा है ऐसा समझना चाहिए ये वेद के मंत्रों में ऐसी बातें आती हैं तो दो सन्निषद यन मंत्र ये थे तब वेद राजा वरुण तृतीय ऐसा मंत्र का भाव है दो व्यक्ति जहां बैठकर गुप्त चर्चा करते हैं तो उनकी बातों को जानने वाला तृतीय तीसरा वरुण राजा इस संसार में सबसे उत्तम जो ईश्वर है वो उनकी बात को वहां भी जानता है ऐसा व्यक्ति को मानकर कोई भी काम करना चाहिए ऐसा मानकर चलेगा तो इसका परिणाम यह होगा कि व्यक्ति बुराइयों से छूट जाएगा पापों से बच जाएगा पाप व्यक्ति तब करता है जब उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि मेरे इस कर्म को कोई नहीं दे रहा कोई नहीं जानता ये मैं संसार के लोगों की नजरों से छुप करके ये काम कर रहा हूं और ये मेरा काम सदा छुपा ही रहेगा कभी लोगों के सामने नहीं आएगा ऐसा मानकर व्यक्ति पाप करता है हम अपने विद्यार्थियों को यहां पर बतलाते हैं बहुत बार बतलाते हैं इस बात को खूब बतलाते हैं कि इस बात को अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दीजिए किस बात को कि हम जो कर्म कर रहे हैं ये हमारा कर्म छुप जाएगा लोगों के सामने नहीं आएगा इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए दुनिया में कोई बात कभी भी किसी की छुपती नहीं आज नहीं तो कल वो सामने आ जाएगी कल नहीं तो परसों कभी ना कभी वो सामने जरूर आएगी वो पाप करने वाला व्यक्ति या तो स्वयं ही किसी को बता देगा अपने मित्र को बता देगा और उसका मित्र फिर दूसरे को बताएगा और क्या कहेगा देखो आपको बता तो रहा हूं पर दूसरे को मत बताना ऐसे ही कहते हैं वो दूसरे को यही कहेगा आपको बता रहा हूं आप दूसरे को मत बताना और वो दूसरा फिर तीसरे को कहेगा देखो आपको बता रहा हूं आप दूसरे को मत बताना ऐसा कहते जाएंगे और बात आगे निकलती जाएगी और सबके सामने आ जाएगी तो कभी भय से कभी डर से कभी डांट से कभी किसी कारण से कभी किसी बात में चलते चलते उसके मुंह से अपने आप ही निकल जाएगी या कभी पूछताछ चल रही होगी तो वहां पकड़ा जाएगा कहीं ना कहीं से वो बात बाहर निकल आएगी वो छुपने वाली बात नहीं है तो इसलिए ये मानकर चलना चाहिए कि हमारी कोई भी बात छुपेगी नहीं वो सबके सामने आएगी तो जब सामने आएगी लोगों के और लोगों को पता चलेगा कि हमने इतना बुरा काम किया उस समय तो लोगों से नजर मिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा लोग हमको किस दृष्टि से देखेंगे हम सर उठाकर देख भी नहीं सके कि देखो इतना अच्छा आदमी था ऐसे काम करता था और अब देखो कितना बुरा काम किया इसने तो ऐसा हमको सर नीचा नहीं करना पड़े समाज के हम दंड के भागी ना बने और ईश्वर के दंड के भागी ना बने ऐसा मानकर व्यक्ति को हमेशा चलना चाहिए इसलिए कोई भी हम बुरा काम ना करें और जब तक व्यक्ति ये मानकर चलता रहेगा कि मेरे कामों को समाज भी जानेगा और ईश्वर भी जानेगा और ये जो मैं छुपकर बुरा काम करना चाहता हूं इसका दंड निश्चित रूप से मिलेगा तो व्यक्ति पाप से बचेगा और बुरा काम नहीं करेगा ऐसे ही जब ईश्वर समर्पण करेगा तो उसको ये जानना चाहिए कि ईश्वर मेरे इन सब कर्मों को देखता है अगर मैं बुराई करूंगा तो ईश्वर दंड देगा छोड़ेगा बिल्कुल नहीं तो इस प्रकार से बुरे कर्मों को भी ईश्वर के सामने रखना केवल अच्छे कर्मों को ही नहीं बुरे कर्म भी हम ईश्वर के सामने रखेंगे तो हमारे बुरे काम छूट जाएंगे कैसे रखेंगे ईश्वर के सामने समर्पण कैसे करेंगे एक उदाहरण देता हूं मान लिया हम एक अच्छा काम करते हैं किसी रोगी की सेवा करते हैं तो ईश्वर के सामने इस कर्म को रख दीजिए कि हे प्रभु हे ईश्वर आपके लिए सामर्थ्य से मैं इस रोगी की सेवा कर रहा हूं देश है इसलिए ऐसा कर रहा हूं इसमें मेरा कुछ नहीं अपनी शक्ति से नहीं कर रहा आपके भी हुई शक्ति से आपके लिए सामर्थ्य से सेवा कर रहा हूं आपका आदेश ऐसा है इसलिए कर रहा हूं मुझे इसके बदले में कोई धन सम्मान आदि कुछ नहीं चाहिए तो ये मेरा कर्म आपको समर्पित है ऐसे उसको समर्पण करना ये तो अच्छा काम समर्पित हो गया और जब बुरा काम करने लगे तो वो भी समर्पित करो कि हे भगवान अब मैं चोरी करने लगा हूं जैसे ही समर्पण करेंगे सावधान हो जाएंगे समर्पण करें हे भगवान अब मैं चोरी करने लगा हूं पर यह तो आपके आदेश से विरुद्ध है इसलिए आप मुझे शक्ति दो बुद्धि दो मैं इस चोरी को न करूं ऐसा समर्पण करेंगे तो चोरी से बच गए फिर जब झूठ बोलने लगेंगे तो कहेंगे हे भगवान अब मैं झूठ बोलने लगा हूं पर यह तो आपके आदेश से विरुद्ध है आप मुझे बल दीजिए बुद्धिया दीजिए बुद्धि दीजिए धियो यो न प्रचोदया मेरी बुद्धि को ठीक मार्ग पर चलाइए मैं झूठ ना बोलूं और इस पाप से बच जाऊं ऐसे समर्पण करते जाएंगे तो हम पाप से बचेंगे और अच्छे कर्मों को करेंगे ईश्वर हमारी सब बुराइयों को छुड़ा देगा विश्वानी देव सवितर दुरीतानी परासुओ यद भद्रम तन्ना आसुओ इसमें यही तो हम कहते हैं कि हमारी बुराइयों को छुड़ाओ और हमको अच्छे मार्ग पर चलाओ हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो हम सुख को प्राप्त करें अच्छे मार्ग पर चलें मोक्ष के मार्ग पर चलें सांसारिक सुख को और मोक्ष को दोनों को प्राप्त करें ऐसा समर्पण करने से व्यक्ति पाप से छूटता जाता है और उसकी योग्यता बढ़ती जाती है और धीरे धीरे वो समाधि तक पहुंच जाता है ये ईश्वर प्रणिधान का स्वरूप और उसका फल है तो पांच